एक गाड़ी यहाँ पर ऐसे आता हमारे भगत उस गाड़ी में हम बैठ के जाते ना कहीं भी वो हरिद्वार हो चाहे देहरादून हो सब जगह तो यही बोल देते मंत्री जी का गाड़ी उसे कौन मांगे मैं कहता जो बैठे तो बाबा बैठे हुए हम और एक आप ड्राइवर तो कैसे बोल देते मंत्री जी का गाड़ी तो पूछेगा तो क्या होगा तो क्या होगा वो फोन करे करा देंगे मंत्री जी को तो मंत्री जी के हाँ हमारे गुरु जी आ रहे बात खत्म हो जाएगी अब क्या करेंगे आप तो गौर व्यवहार तो संसार में पग पग में होता है अनुभव में आता है हाँ, यदि भी वो क्या है पिए है केवल वो उस मंत्री का पिए होता है ना वो क्या बोलते हैं प्रतिनिधि मंत्री जी का प्रतिनिधि अब मंत्री तो रोज रोज आ नहीं सकता है इस क्षेत्र के कोई भी लोगों की कोई समस्या होती है वो प्रतिनिधि को सौंप देते हैं और प्रतिनिधि अपने तरफ से भी सब काम कर सकता है उसको इतना अधिकार होता है ज्यादातर काम में तो मंत्री को मालूम भी नहीं होता वो सब नीचे लोग कर देंगे तो उसी प्रकार यहाँ पर भी कहते राजा स्वयं नहीं करता है उसके सकल कामों को दूसरा कोई आदमी कर रहा है यदि वो उसका नौकर है नौकरी में रह रहा है वृत्ति है लेकिन वही सब काम कर ही रहा है आते उसको क्या कर देते हैं लोग राजा उसी प्रकार यहाँ पर भी मंत्री का प्रतिनिधि को जैसा मंत्री कर व्यवहार कर लेते हैं कहते यहाँ भी ऐसे ही हुआ है चेतन के समान कार्य कर रहा है ना प्रधान इसलिए प्रधान को चेतन कह दिया गया है स इच्छा करे ऐसा प्रधान को कह दिया गया है इति चेत न यहाँ तक सांख्य और नैयायिकों के तर्क हुआ तर सिद्धांति कहते नहीं आत्म भोक्तृत्व कर्तृत्व है अरे आत्मा में जैसा आप भोक्तृत्व मान रहे हो तो कर्तृत्व को भी आपको आत्मा में ही मानना पड़ेगा या तो दोनों ही लोग मानो तो माता तो आत्मा जड़ हो जाएगा शून्य हो जाएगा बहुत दादी के समय है या नहीं जब भोक्तृत्व एक धर्म हो सकता है तो उसका कर्तृत्व धर्म को मानने में कोई आपत्ति नहीं यह भोक्तृत्व के समान कर्तृत्व भी आत्मा में उपन्न है कैसे यथा सांख्य से चिन्ह मात्र से अपरिणामी अपनी आत्मनोभोक्तृत्व जैसे सांख्य उनके मत में क्या है चिन्ह मात्र उपये चैतन्य स्वरूप है आत्मा उनके यहाँ भी जो पुरुष मानते हैं वो तो चैतन्य रूपा ही मानते हैं चिन्ह मात्र और कैसा है वो अपरिणामी है फिर भी उसके अंदर भोक्तृत्व हो सकता है आत्मन भोक्तृत्व यथा तद्वद वेदवादी नाम इच्छादि पूर्वकम जगत कर्तृत्व उपन्नम श्रुति ब्राह्मण्या उसी प्रकार से वेदवादी जो हम लोग हैं हम लोगों का कहना है ईक्षण आदि पूर्वक जगत कर्तृत्व भी आत्मा उत्पन्न हो सकता है श्रुति की प्रामाण्यता से तब वो कहता है असल में समस्या ये है सृष्टि में शुभ परिणाम की अपेक्षा तत्वांतर परिणाम की अपेक्षा कर्तृत्व में क्या है वस्तु तत्वांतर को प्राप्त कर जाए जैसे प्रकृति है उसके अंदर हम इसलिए कर्तृत्व मानते हैं क्योंकि वह प्रकृति अपने साम अवस्था को भंग करके विषम अवस्था के तत्तांत रूप में परिणाम हो जाती है जिसको आप नाम देते महत्व फिर वो महत्व तत्तांत रूप परिणाम हो जाता है अहंकार बनता है इस प्रकार से सारी सृष्टि बनती है तत्वांतर परिणाम की अपेक्षा है कर्तृत्व में क्या है तत्तांतर परिणाम होता है यद्यपि वह अपना स्वरूप को रखते हुए तत्वांतर परिणाम है जैसे मिट्टी तो मिट्टी रहेगा ही जब तो घड़ा बन गया तो मिट्टी नहीं रह गया क्या मिट्टी घड़े के रूप में धारण कर लिया है तो मिट्टी का ही घट क्या है तत्वांतर परिणाम है मिट्टी का रहते हुए भी मिट्टी का ही तत्वांतर परिणाम का मतलब कर्त क्रिया कार्य तो अलग अलग हो गया मिट्टी में जिस प्रकार से अर्थ क्रिया कार्य तो था अब उससे भिन्न अर्थ क्रिया कार्य घट गया आ गया नहीं मिट्टी को लाने के लिए आपको कोई चीज चाहिए कोई झोला चाहिए बोरी चाहिए कुछ कट्टा चाहिए कुछ चाहिए ना गड़ा लाने के लिए तो हाथ भी उठाया सीधे चले आने का था क्रिया व्यवहार में देखो पानी ला सकते हो घड़े में पानी ला सकते हो क्या मिट्टी में अर्थ भी प्रयोजन भी अलग है क्रियान्वयता भी अलग है सब अलग है इसी का नाम तत्वांतर कार्य न कार्य अनंत कार्य वो एक नाम से ले लो बात खत्म हो जिसका विकार कर देते हैं नहीं तो उन्होंने भी क्या चारी का इसलिए प्रकृति विकृति प्रकृति विकृति रूपा पुरुष चार का उसे वास्तव विचार दो ही है प्रकृति और पुरुष दो ही अब दो को हमने चौबीस गिना लो छत्तीस गिना लो छप्पन गिना लो पैंसठ गिना लो अलग अलग सिद्धांत लो अलग अलग गिना दिया किसी ने सात बोल दिया और सात क्या है द्रव्य गुण का अनुसार अब गुण का है द्रव्य में रहता अलग तो है क्रिया का है अलग है ये तो जो शिष्यों को अधिगम कराने के लिए तत्व का जो है विभाजन कर समझाया जा रहा है शिष्य बुद्धि वैश्य ध्यान कर का अब पांच प्रक्रम क्यों माना आपने अरे गमन में सारा आ जाएंगे गमनम कहने से सब आगे कि नहीं आगे क्योंकि उस अपक्षेपण क्यों कहा उत्क्षेपण अरे वहां भी तो क्या है पूर्व देश वियोपरक उत्तर देश संयोगी तो है गमनी तो है शिष्य बुद्धि की वैश्यता के लिए समझाने के लिए भैया ऐसा हो गया तो ऐसा ऐसा हो गया तो लाभती व्यवहार उसी प्रकार यहाँ पर भी सारा चीज समझ लेना है इसलिए अनंत तत्व है नहीं एक लोग भी क्या कहते हैं जो शुरू में आप उनके भाषण वगैरह पढ़ेंगे तो पता चलेगा वो कहते प्रत्येक वस्तु एक तत्व है जो भी आप देख रहे लेकिन मुक्ति के लिए किस प्रकार का दुख का ध्वंस करने के लिए संसार के अनंत पदार्थों को हम सब का विभाजन कर हैं ऐसे कहा जाता है इसलिए कहना है क्योंकि भाई सारा उसी में आ गया कार्य ना सरल कार्य इकट्ठा हो गया एक कारण है कार्य बात खत्म जैसे कि अपूर्वम मना परम कहने से काम तो हो गया फिर भी क्या कहते अशब्दम मूप रूपम क्यों कहना पड़ा ये केवल व्यक्ति को मंदाधिकारी है मध्यमाधिकारी है उत्तमाधिकारी है अब उत्तमाधिकारी है तो उसको कहने की जरूरत ही नहीं सब पढ़ने की हम ब्रह्मास्मि कह दे तो हो गया सुनते काम काम हो गया लेकिन जो क्या करें आप इतना हजारों बार सुन चुके हैं तभी अकाल में कुछ सुधर नहीं रहा है तो क्या उसके लिए कहा कि तो रगड़ो फिर उपनिषद लगे रहो इसीलिए वो पूर्व पक्षी तत्वांतर परिणाम आत्मनो अनित्यत्व अशुद्धत्व अनेकत्व निमित्त न चिन्मात्र स्वरूप विक्रिया अतः पुरुष से स्वात्म एवं भोक्तृत्व चिन्मात्र स्वरूप विक्रिया न दोषाय पूर्व पक्ष का अपना विचार है कहते तत्वांतर परिणाम कर्तृत्व की अपेक्षा होता है उससे क्या होगा आत्मा में अनित्यत्व आ जाएगा आत्मा में अशुद्धत्व आएगा आत्मा में अनेकत्व आ जाएगा यदि आत्मा में कर्तृत्व भी तत्व अंतर परिणाम के कारण को मानोगे तो यदि आत्मा में तत्तंत्र परिणाम का कारण ही बुधा कर्तृत्व को स्वीकार करोगे तो आत्मा भी अनेक हो जाएगा आत्मा शुद्ध हो जाएगा आत्मा नित्य हो जाएगा लेकिन उसके तर्क बैठ कर प्रकृति में फिर क्यों नहीं हुआ प्रकृति जो तो आप अनेक नहीं मानते तो एक है प्रकृति अपने आप में अपने आप में क्या है शुद्ध वही घटबड़ी और साम्य अवस्था में सदा रहती है साम्य अवस्था में रहते हुए भी विषम अवस्था को प्राप्त हुआ तो तत्वांत परिणाम को मानते नहीं तो आप क्या समझते हो प्रकृति खत्म हो जाएगी परिणाम होते तो क्या होगा खत्म वो तो नहीं प्रकृति नित्य है वो कहते बताओ नित्य कैसे हो गया अब खत्म नहीं होगा ना इसे नित्य करना पड़ेगा उसको अब बताओ नित्य होते हुए तो तन प्रणाम माना कि नहीं माना प्रकृति वो एक होते हुए त्रिधा विभक्त होकर विषमता को प्राप्त करता हुआ महादादी अहंकार तन परिणाम को प्राप्त हो सकते तो आत्मा की तरह क्यों नहीं हो सकता लेकिन प्रकृति में एक होता हुआ भी नित्य होता हुआ भी शुद्ध होता हुआ भी तत्काल परिणाम जैसे हो सकते आत्मा भी एक होते हुए नित्य होते हुए शुद्ध होते हुए कर्तृत्व आदि को लेकर तत्व प्रणाम परिणाम होने में क्या लेकिन वो पूर्व पक्षी अपना रटंत विद्या रट रहा है और कह रहा है कि आत्मा के अंदर तो गड़बड़ होगा कि अंदर परिणाम रूप कर्तृत्व तो मानोगे क्योंकि वह अनित हो जाएगा अशुद्ध हो जाएगा अनिकत्व निमित्त हो जाएगा वहां पर न चिन्मात्र स्वरूप विक्रिया और चिन्मात्र स्वरूप की विक्रिया हम कभी नहीं मानते आता पुरुष से स्वात्मनीय भोक्तृत्व चिन्मात्र स्वरूप विक्रिया न दोष आया इसलिए पुरुष के अंदर जो है स्वात्मन एव भोक्तृत्व सर्वभूत भोक्तृत्व स्वात्मन ने सर्वभूता भोक्तृत्व मान लेते हैं बिना विक्रिया का भी उसके भोक्तृत्व बना रहेगा उसका पूर्व पक्ष का कहना है बिना विक्रिया का भी आत्मा में हम भोक्तृत्व मानते हैं और प्रकृति में जो कर्तृत्व विक्रिया को लेकर के है वो आगे कह रहा है इसलिए चिन्मय सर्व विक्रिया न दोषाय भवताम पुनर्वेद सृष्टिकृत तत्वांत परिणाम एवं आत्मनो नित्यत्व सर्वदोष प्रसंग चिन्ह और आप वेदांतियों के मत में क्या होगा वेदवादियों के मत में इस सृष्टि का कर्तृत्व अर्थात तत्वांतर परिणाम को यदि आप आत्मा के अंदर मान लोगे फिर वो आपकी आत्मा अनित्य हो जाएगी अशुद्ध हो जाएगी अनेक हो जाएगी इत्यादि जितना भी पूर्वोक्त दोष है वो तो आपके ऊपर आ जाएगा यदि चिन्ह ऐसा नहीं हो सकता सिद्धांत जवाब देता एक अविद्यात नाम रूप उपाधिकृत विशेष अभिगमान क्योंकि आत्मा के अंदर हम भी वास्तविक क्रिया नहीं मान रहे इसे तुम्हारे यहाँ आत्मा बिना भी क्रिया का स्वरूपभूत भोक्तृत्व माना हम तो उससे भी आगे हैं हम स्वरूपभूत भोक्तृत्व ही नहीं मानते आत्मा के द्वारा भोक्तृत्व भी मानूंगा कर्तृत्व मानूंगा सब कुछ आत्मा में ही मानूंगा आत्मा में सारा है क्या नहीं है आत्मा सब कुछ आत्मा में कैसा है वास्तव में नहीं है करते हैं आप तो वास्तविक ही मान लिए सांख्य वाले आत्मा में पुरुष में भोक्तृत्व वास्तविक मान लिया है सर्वभूत मान लिया लेकिन हम तो उस भोक्तृत्व भी आरोपी नहीं मानते इसलिए हमारी आत्मा की विशुद्धता में कोई आपत्ति नहीं उपाधि और अनुपाधिकृत विशेष भगवान केवल अविद्याकृत नाम रूपात्मक उपाधिकृत है और अनुपाधिकृत है उसमें शुद्धत्व भी नहीं है वास्तव में नित्यत्व भी नहीं है उसे शुद्धत्व अशुद्ध नित्यत्व एकत्व ये सब जो सत्यत्व आदि धर्मारोप जो हो रहा है ये भी वास्तव में धर्म नहीं है ये अनुपाधिकृत है उपाधि और अनुपाधि की अपेक्षा से तो बात कही जाती है उपाधि की अपेक्षा से अनित्व आदि आ गया और उपाधि जब नहीं है तो शुद्धत्व आदि कहा देंगे वास्तव में इन दोनों से ही है उस स्वरूप में कुछ भी नहीं इसलिए कहते हैं एक करो अविद्यात नाम रूप उपाधि और कृत विशेष अभिगमा उसको समझाएंगे इसी वाक्य को व्याख्या करेंगे स्वयं भाषाकार अविद्या नाम रूप उपाधि कृतो ही विशेष थे आत्मनो बंद मोक्षादि शास्त्र सव्यवहाराय अविद्यात नाम एवं रूपात्मक उपाधियों की वजह से ही आत्मा के विशेषता को स्वीकार कराते हैं वे किस लिए बंद मोक्ष आदि शास्त्रोत्सम व्यवहार के लिए हमने स्वीकार किया है आत्मा में अविद्या अविद्या उत्पन्न नाम रूपात्मक उपाधि से जन्य आदि को और परमार्थ तो अनुपाधि कृतंच तत्व एकमेव द्वितीय उपाधियम सर्व तार्किक बुद्धि अनवगा अभयम शिवम इष्यते न तत्र कर्तभोक्तृत्व व क्रियाकार फलंच सियाद अद्वैत सर्वभावाना किंतु और परमार्थ तो विचार करके देखेंगे आप अनुपाधिकृत ही है क्या वहां पर तत्व है वो कैसा अनुपाधिकृत तत्व होने के नाते उसको हम कह देते हैं वो एक है उसको हम कहते हैं अद्वितीय है ऐसा ही ग्रहण करने को कहेंगे सर्व तार्क बुद्धि अनवगा सभी प्रकार के तार्किकों के बुद्धि के द्वारा अवगाह्य नहीं है ऐसा विलक्षण तत्व है वो वह अभय शिव है कल्याण रूप है मुक्ति स्वरूप ही है वो इसलिए वहां वास्तव में न कर्तृत्व भोक्तृत्व व क्रियाकार फलम न कर्तृत्व है न भोक्तृत्व है न क्रियाकार कार्यों का फल ही है अद्वैतवाद सर्वभाव इसलिए सकल भावों का वास्तविक स्वरूप क्या है अद्वैत ही है इसलिए ये जितनी भी है ये हमारे आत्मा के अंदर कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि की परिकल्पना करने में हमारा कोई दोष नहीं आ सकता ये सब कल्पना ही तो है बल्कि आपके आपत्ति इसलिए थी क्योंकि आपने वास्तविक भोक्तृत्व मान लिया और वास्तविक कर्तृत्व में मानने में आपत्ति हुआ क्योंकि आपका परिणाम हो जाएगा अशुद्धि आ जाएगी अनेक हो जाएगा जैसे प्रकृति अनेक हो गई वैसे आपका भी अनेक होने लग जाएगा यदि वह कर्तृत्व मानेंगे क्योंकि जिस प्रकार से आपका वास्तविक भोक्तृत्व है और कर्तृत्व कहोगे तो वो भी वास्तविक हो जाएगा इसलिए आप सांख्यों के मत में यह आपत्ति हो सकती है कि यथा वास्तविक भोक्तृत्व तथा वास्तविक कर्तृत्व मानने पर आत्मा में अनेकत्व अनित्यत्व अशुद्धत्व आदि अनेक दोष आ सकते हैं लेकिन हमारे वेदांत के मत में तो यह असंभव है ये दोष कोई नहीं आ सकता क्योंकि हमारी आत्मा में वास्तविक भोक्तृत्व भी नहीं वास्तविक कर्तृत्व भी नहीं बल्कि सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं उपाधियों को लेकर सब कुछ है और उपाधियों को छोड़कर कुछ भी नहीं इसलिए अध्यारोप में कभी कोई दोष नहीं हो सकता सांख्यास्तु अविद्या अध्यारोपित पुरुष कर्तम क्रियाकार का फलन चाहिए कल्पित्वा क्योंकि सांख्य मत में भी आत्मा में कर्तृत्व मान रहे हैं हम कैसे कर देते तो आरोपित कर्तृत्व मान रहे हैं हम तो कहते आरोपित भोक्तृत्व भी मान लो एक आरोपित मान सकते दूसरे को नहीं मान सकते इसलिए सांख्य वाले तो अविद्या अध्यारोपित उनके अविद्या नहीं है शब्द वहां अविवेक होता है है ना सत्य पुरुष अविवेक हो गया है यही उनके शब्दावली है तो उसको अपनी भाषा में इन्होंने कह दिया है अविद्या अध्यारोपितम एवं पुरुष कर्तन क्रिया कारक चाहिए कल्पयित्वा आगम बाह्यत्वा ऐसा कल्पना करते हुए वे वास्तव में आगम बाह्य है श्रुति विरोधी है वो वेद विरोधी लोग हैं आरोपित तो कर्तृत्व तो पुरुष में आरोपित भोक्तृत्व तो प्रकृति में जब अज्ञान व्यवहार कर रहा है ना मैं कर रहा हूं जो आम आदि व्यवहार करता है अहम करता इस अहम करता की व्याख्या की क्या करेगा अहम करता जब कहेंगे उसकी व्याख्या सांख यही कहेगा अहम यदि बोध जो पुरुष है उस पुरुष कर्तृत्व अविवेक के कारण से आरोपित है जो कर्तृत्व प्रकृति में उसको अहम में आरोप करके व्यवहार कर रहा है अहम करता इसी प्रकार यदि कहा जाए उसको अरे मेरे आंखों ने रूप का भोग किया चक्षा पश्यामी रेव पश्यती तो वो क्या कहेंगे चक्षु में भोक्तृत्व कहां से आ गया अच्छा आरोपित श्रोत्र तथा तो अहम पश्यामी की जगह चक्षु पश्यामी बोल दिया है ये तो चक्षु में भोक्तृत्व का आरोप है ये तो उन्हें मानना ही पड़ेगा सभी को मानना पड़ता है भ्रांति सभी के कोई असत ख्याति है अन्यथा ख्याति कोई ख्याति हो भ्रांति सभी में है या नहीं जब भ्रांति के, के वाक्यों में आरोपी तो मानना पड़ेगा चाहे सांख्य हो चाहे योग हो चाहे न्याय हो मीमांस हो कोई भी इसलिए भाष्कर गलत नहीं कह रहे जो भ्रांति का विषय है उसको भी दिखा दे तो जान के कि अपने अपने अपने लिए सहयोगी बन रहा है ना जिस प्रकार से आप आत्मा में कर्तृत्व आरोपित मानते हो उसी प्रकार भोक्तृत्व भी आरोपित मान लो तीसरे कहते हैं पुनः पुनः तथा पश्यंत परमार्थ एवं भोक्तृत्व पुरुष से छंदी वेद बाह्य होने के कारण से वे लोग आरोपित कर्तृत्व को मानने के बाद भी उन्हें बड़ा कष्ट हो रहा था तथा प्रस्यंत परमार्थ देव भोक्तम पुरुष से इच्छा उसी आत्मा के अंदर परमार्थ ही भोक्तृत्व भी चाहते हैं तत्पांतर प्रधानम पुरुषार्थ परमार्थ वस्तु भूतम एवं कल्पयंत और एक तत्वांतर प्रधान नाम का वस्तु मानते हैं जो कि पुरुष से भिन्न परमार्थ वस्तु करके स्वीकार करते हैं कल्पयंतो अन्य तार्क कृत बुद्धि विषय आसंत भी अन्य है ये सब क्यों कर रहे हैं अन्य तारकों ने इनको पढ़ाया इन्होंने कुछ उनको पढ़ाया आपस में एक दूसरे जब पढ़ पढ़ा करके सब के साथ वेद के वास्तविक तात्पर्य को वेदांत को कोई ग्रहण नहीं कर पाया इससे अपने आप को विहरण कर लिए हैं अन्य तार्क कृत बुद्धि विषया इस भाषा नीचे टीका स्पष्ट करते हैं भोक्तृत्व अंगीकार तथा तस्वीर कर्तव्य इति अन्य शिक्षिता संत स्वमत प्रक्षवंद वह अपने मत से प्रच्युत हो जाते हैं कृदाया शिक्षित बुद्धि विषया अधीना शिक्षित बुद्धि दूसरों के द्वारा प्रदान किया गया शिक्षा को लेकर अपने बुद्धि में उसको सम्मिश्रित कर लिया इसीलिए वो लोग भी वेदांत से बहुत दूर हो गए तथा इतने तार्क कहा सांख्य यह सांख्य अन्य तारीखों के पाठ पढ़ाने में आ गए भी सांख्य के पाठ में कुछ इन्होंने उनका लिया कुछ उन लोगों ने इनका ले लिया आपस में एक दूसरे का मालटाल लेकर के सारे के सारे अद्वैत वेदांत दूर हो गए और ऐसे भी लोग हैं जिन जिनके सबका थोड़ा थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं या नहीं जितने भी आजकल नए गुरु लोग हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं यही तो कर ही रहे हैं नया एक संप्रदाय बना देते आर्ट ऑफ लिविंग चालू कर दिया कुछ तो रजनीश का ले लिया कुछ तो महेश योगी का ले लिया कुछ तो पतंजलि का ले लिया कुछ किसका सब का चोरी करके नया नाम दे दिया उसको लोग दुनिया के पीछे भाग पड़े और नाम भी चोरी है ये नाम भी चोरी थी ये वो अपने अकल का नहीं था शिवानंद जी महाराज है ना शिवानंद उन्होंने बहुत पहले उन्नीस सौ अठारह उन्नीस में ही एक पुस्तक लिखी जिसका नाम ही रखा रखा था आर्ट ऑफ लिविंग और नाम भी वहां का चोरी है कोई अपने अकल का नहीं है बड़ा आश्चर्य की बात है फिर भी उसकी दुकानदारी बड़ी अच्छा लगती है <laughs> गजब है दुनिया तो वही लोगों की हाल बोल रहे हैं आचार्य शंकर कि जो है सांख्यों ने अन्य तार्किकों को लिया और अन्य तार्किकों ने सांख्यों के द्वारा दिया वो को ले लिया इतने परस्पर विरुद्धार्थ कल्पनाया इस तरह से क्या किया उन्होंने परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध पदार्थों की परिकल्पना करने लग गए कल्पना तो आमिषार्थ इव प्राणियों जैसे मांस के टुकड़े के कुछ चार कुत्ते लड़ बैठते हो उसी प्रकार श्रुत्यर्थ को समझने के चक्कर में सारे लड़ बैठे हुए आमिषार्थी नहीं वो प्राणी न हो अन्योन विरुद्ध मानार्थ दर्शित परमार्थ तत्व दूर में अपकृष्यंद देखो अन्योन्य विरुद्ध प्रमाण सिद्ध स्वयं स्वयं के अपने अपने अनुमान आदि प्रमाणों के द्वारा सिद्ध विरुद्ध पदार्थों को ही अनुभव करने वाले होने के कारण परमार्थ तत्व का अनुभव से दूर ही रह गए अतः तन मतम मानादित्य इसे मुमुक्ष को क्या करना चाहिए ये तार्किकों के सांख्यादियों के मत को अनादर करता हुआ उनको ज्यादा महत्व न देते हुए वेदांत तत्व एक दर्शन प्रत्यादरवंत प्रति आदरवंतो मोक्ष वेदांतार्थ एक तत्व जो बोध है एक दर्शन इसी में के इसी के प्रति आदरवान होकर मोक्ष लोग होना चाहिए इति तार्किक मत दोष प्रदर्शन किंचित उच्चते अस्माविर न तो तार्क तात्पर्य न लेकिन हम भी उनसे लड़ नहीं रहे हिम्मत सोचेगा हम भी लड़ करके हम भी उसी कोटी में चले जा रहे हैं इसलिए भाषा कहते हैं हम तार्किक मत का दोष प्रसन्न करने में हमारा कोई तात्पर्य नहीं है हम उनसे लड़ाई बढ़ाई नहीं करना चाहते क्योंकि वो भी हमारे अंदर कल्पित है ना हम क्यों लड़े अपने कल्पित दोस्तों से अन्यत्र रहे क्या वो हमसे अलग है क्या वो भी हमारी ही आत्मा में कल्पित है हम उनसे क्यों लड़े इसलिए कहते हैं हम तार्किक मत का दोष प्रसन्न है हमारा कोई तात्पर्य नहीं है अस्माभिर न तो तार्किको तो तार्प तात्पर्य तार्किकों के समान हम वास्तविक तात्पर्य रूपेण उसको लेकर के वो लड़ाई बिड़ाई नहीं करना चाह रहे हैं केवल दोष प्रश्न इतना ही मात्र कर दिया ताकि मुमुक्षु को हम सही रास्ता दिखा इसी बात को इस श्लोक में भी कहा गया है विवदत सेव निक्षिप्य विरोधोद्भव कारणम तई संरक्षित सदबुद्धि सुखम निर्वाति वेदवित कहते इस विरोध को उत्पत्ति का कारण जो है उसको विवाद करने वालों में ही छोड़ देना विवदत से निक्षिप उन्हीं के बीच में छोड़ दे लड़ने भिड़ने वालों को लड़ते रहने और स्वयं को क्या करना है तई संरक्षित सदबुद्धि ही पक्ष करने वालों के तर्कों से रक्षित हुआ जो सदबुद्धि वाला जो सुरक्षित पुरुष है वह सुख वेद तादृश वेद वेदों वेदता पुरुष सुखम निर्वाती वह सुख पूर्वक निर्वाण मन मोक्ष को प्राप्त कर लेगा किंच और दूसरी बात भोक्तृत्व कर्तृत्व और विक्रिय और विशेषण पत्ते हैं ये भोक्तृत्व भी विक्रिया रूप आपने कहा कर्तृत्व भी विक्रिया रूप है तो दोनों में कोई वास्तव में अंतर नहीं है कहानामासव कर्तृत्व जात्यंतर भूता भोक्तृत्व विशिष्टा विक्रिया यदि है तो बताइए वो क्या है जो कर्तृत्व नामक विक्रिया से विलक्षण जो अत्यंत भिन्न स्वरूप वाला भोक्तृत्व तो नाम का यदि वस्तु है तो विशिष्ट विक्रिया है तो क्या है बताइए जिसके वजह से आप ये तो भोक्तरी पुरुष कल्पित करता प्रधान कर्तृव न भोक्तरी जिसके आधार पर आप कहते हो पुरुष भोक्ता ही होता है करता नहीं और प्रकृति भोक्त्री कर्तरी होती है भोक्तरी नहीं ये किस आधार आप करो बताइए तो पूर्व पक्ष मैंने बता तो दिया पहले ही क्या बताए थे आप क्रिया दिलाओ कहते अनुक्तम पुरुष सच स्वात्म क्रियते बुंजानो न तत्तांत परिणाम ये बात तुमने कहा है पुरुष मात्र स्वरूप है वह स्वस्वरूप स्थित होकर के ही भोग करते विकार को प्राप्त कर लेता है फिर भी वह तत्वांतर परिणाम नहीं है और प्रधान तत्वांतर परिणाम तत्वांत प्रधान क्या है वो भी स्वरूप स्थित होते भी तत्वांत प्रणाम रूप विक्रिया को प्राप्त करता है ये अंतर है दोनों स्वरूप में सत्य है प्रकृति भी घटती बढ़ती नहीं है वो अपने आप में स्वरूप में जैसी है वैसी ही रहेगी होते हुए भी उसके अंदर जो विक्रिया ना तत्वंतर परिणाम रूपा है और पुरुष में स्वस्वरूप सताते हुए वो भी अभी विक्रिया हुई भोक्तृत्व रूपा लेकिन वह तत्वांतर परिणामात्मक नहीं है ये अंतर हम कर रहे हैं अशुद्धम अचेत मतो अनेकम अशुद्धम అచేతనం ఇత్యాది धर्मवद तद विपरीत पुरुष इसलिए ही जब विकार वाला होता है ना तब जाकर के अनेकत्व अशुद्धत्व और अचेतत्व आदि का भान होता है इत्यादि धर्मवद तद विपरीत पुरुष तो सिद्धांत कहता है नासो विशेषो वांग मात्र यह कोई विशेष अंतर कसरो हमें नहीं समझ में आ रहा है जो आप विशेष अंतर पैदा करने के लिए कोशिश किए हैं आपका यह कोशिश लगता है कि शब्द जाल है वास्तव में दोनों पदार्थों में अर्थात भोक्तृत्व और कर्तृत्व में कोई अंतर नहीं दिखता क्यों प्राप्त भोग पत्ते है जब आपसे पूछते हैं भोग से पहले जैसे था वैसे ही भोग काल में रहता है क्या पुरुष इसी प्रकार से प्रकृति भी जिस प्रकार से भोग मैंने कर्तृत्व से पूर्व काल में जैसी थी वैसे ही कर्तृत्व काल में भी रहेगी क्या यदि वैसी की वैसे रहेगी फिर भोग है क्या अंतर विशेष उसमें दो में अपने आप में वैसे के वैसे रहे शरीर क्रिया हुआ फिर एक में तत्वांतर और एक में तत्वांतर नहीं है ये कहने में कोई प्रमाण बता नहीं कि दोनों वैसे वैसे हो गए ना दोनों में कोई अंतर नहीं है भोक्तृत्व काल भोग काल में या काल में ये कोई अंतर नहीं है फिर तत्वांतर परिणाम एक का हुआ और एक का नहीं हुआ ये तो शब्द जाली तो हुआ इसलिए कहते हैं भोगोत्पत्ति है प्राक केवल चिन्ह मात्र से पुरुष भूतृत्व न विशेषो भोगोत्पत्ति काल चित दे निवृत्ति हो गए पुनः तद विशेषात अपेता चिन्ह मात्र एवं होती विचेत महदाध्याकरण प्रणम्य प्रधान तथोपेत्य पुनः प्रधान स्वरूप है यदि अस्यांकर प्राय न कश्चित विशेष मात्रेण प्रधान पुरुष और विशिष्ट विक्रिया कल्पित है और इसको व्याख्या कर समझा रहे नाश विशेष मात्र उत्पत्ति से पहले केवल चिन्ह मात्र था पुरुष हो भोक्तृत्व नाम विशेष जब भोगोत्पत्ति काल में हुआ तब क्या हुआ भोगोत्पत्ति काले भोक्ता विशेष हो जायत है उसमें उत्पन्न हो गया किसमें चित पुरुष मात्र पुरुष के अंदर जो प्राग भोगोत्पत्ति से पहले जो चिन्ह मात्र था उस मात्र पुरुष के अंदर में भोगोत्पत्ति काल में भोक्तृत्व नाम का विशेष उत्पन्न हुआ और निवृत्ति जब हो गए जैसे भोग निवृत्त हो गया तद विशेषादापेता ताश भोक्तृत्व विशेष धर्म से वो रहित हो गया इसका मतलब क्या है पहले भी मात्र है बाद में भी चिन्ह मात्र है बीच में भोक्तृत्व का आरोप मात्र हुआ और सिद्धांत क्या है आदवंश नास्ती वर्तमान तथा तो तो इधर वर्तमान में इसका मतलब भोक्तृत्व नहीं है वास्तविक को आरोपित माननी पड़ेगी है ना इसी प्रकार से आइए मात्र भवती थी अपेता चिन्ह मात्र भवती हटने के बाद क्या हुआ फिर चिन्ह मात्र ही रह गया इसी प्रकार से महदाद्याण च परिणम्य प्रधानम तथो अपेत्य पुनः प्रधानम कर्तृत्व से पूर्व काल में कैसे था प्रधान प्रधान ही था मैंने साम्य अवस्था थी है ये नहीं और फिर महदाद्याण परिणाम को प्राप्त कर रही हो पर प्रधान प्रकृति फिर जब महदाद्याण जो परिणाम था वह हट गए तथो अपेत्या पुनः प्रधानम फिर वह पुनः प्रधान स्वरूपेण अवधिष्ठ वापस अवस्था में आ गई अर्थात पहले अवस्था में रही प्रकृति अंत में साम्यवस्था में रहेगी प्रकृति बीच में जगह परिणाम मात्र आपको दर्शन हो रहा है उसको तो हम जो दर्शन तो करेंगे कोई वास्तविक तत्वांतर परिणाम हुआ ही नहीं जैसे मात्र वास्तविक कोई तत्वांतर परिणाम नहीं है तो प्रधान में भी तो वास्तविक तत्वांतर परिणाम नहीं रहा फिर यहाँ भी वही नियम लगेगा आधवंते चिन्ह वर्तमान पिता तो था आदि में प्रधान अंत है प्रधान बीच में क्यों कर्तृत्व को निर्म परिणाम जो कहते हो यह परिणाम भी उसी प्रकार का है जिस प्रकार से भोक्तृत्व परिणाम पुरुष के अंदर बीच में आपने देखा था इसे दोनों में कोई फर्क नहीं एक चीज को आपने पुरुष में आरोप कर दिया दूसरे को आपने प्रकृति में आरोप है दोनों ही आरोपित सम्मानित तो हुए अंतर कहा रह गया इसलिए एक को एक ही में मानना दूसरे को दूसरे में ही मानना ये कोई जरूरी नहीं रहा आरोपित वस्तु तो कोई भी कहीं भी आरोप हो सकता है आरोपित तो करनी है जब आरोपित वस्तु को आप स्वीकार करना चाहते हैं भोक्तृत्व तो भी आरोपित ही मानना है और कर्तृत्व को भी आरोपित ही मानना है दृश्य के अनुसार आरोप को अस्वीकार के लिए ये दुराग्रह क्यों कि पुरुष में ही भोक्तृत्व है प्रकृति में ही कर्तृत्व है ये दुराग्रह क्यों सीधा मानिए जो श्रुति कहती है ये दोनों के दोनों अध्यास में वास्तव तो तो में पुरुष में है न माया में जो अध्यास हो रखा है ना उस आध्यासिक प्रतिबिंबित चैतन्य में भोक्त कर्ज दोनों ही है मात्र में भी नहीं और माया में भी नहीं माया ने अध्यास को पैदा करने के लिए अवसर दिया है और तार्श अवसर में उत्पन्न जो अध्यास अध्यास के अंदर सारा चीज आएगा ये श्रुति सम्मत मत है उसी को स्वीकार करना पड़ेगा इसलिए कहते हैं तादृश कल्पना में जो आपकी कल्पना है अस्याम कल्पनाया न कश्चित विशेष कोई विशेष अंतर में दिखाई नहीं देता यदि वांग मात्र प्रधान पुरुष और विशिष्ट विक्रिया कल्पित है इसलिए प्रधान पुरुषों की जो विशिष्ट विक्रिया आपने कल्पना करी है वांग मात्र ही है वास्तविकी नहीं है तो पूर्व पक्षी कहता है ऐसा है फिर तो भोग कार्य भी चिन्ह मात्र पुरुषा भोग कार्य में भी ऐसे मान लो फिर चिन्ह मात्र ही है पहले के समान पुरुष हृदय ना पूरा वेदांत में यदि अंतर करूंगा वहां कर्तृत्व कारणों में प्रधान मात्र नहीं रहेगा पहले प्रधान है बाद में प्रधान है कर्तृत्व काल में प्रधान प्रधान नहीं रह जाएगा वह महदाद्या कारण परिणत हो चुका है पहले बल फिर सामने अवस्था को प्राप्त कर जाता है है ना जैसे बच्चे खेलते हैं रेत पर मकान बना लेते हैं फिर वापस क्या रह जाता है कोई रेत का ढेर मकान को हटा दिया तो क्या हुआ ये था वैसे हुआ रेत का ढेर जो था पड़ा हुआ तो पड़ा ऐसे प्रधान पहले बाद प्रधान बीज जो मकान क्यों नहीं माना जा सकता महाजादी रूपी संसार खड़ा हो गया इसलिए वहां पर प्रकृति में तो वास्तविक परिणाम मान लो वास्तविक परिणाम होने पर भी सावे वस्तु को होने के नाते पुनः यादृश अवय की जो विषम स्थिति हुई थी वो पुनः साम स्थिति होने में कोई आपत्ति नहीं इसलिए वहां वास्तविक परिणाम बीच में हो गया एक पुरुष में पहले भी चिन्ह मात्र था अब भी चिन्ह मात्र है बाद में चिन्ह मात्र रहेगा केवल बीच भोक्तृत्व का आरोप माना जाएगा वहां तत्वांतर परिणाम पुरुष का भोक्तृत्व ना नहीं है ये अंतर तो मैं कर लूंगा कि पुरुषा निरवय है सावय वस्तु नहीं यदि भी अनेक पुरुष मानते हैं वो फिर भी वो निरवय अनेक है यही तो विलक्षण होता है निरवय हो तो अनेक कैसे हो सकता है लेकिन उनकी अपनी कल्पना है मान के चलो कुछ देर तक निरय होते हुए अनेक वो पुरुष जो है ना अतः उसके अंदर तत्वांतर परिणाम हो नहीं सकता है तो भोक्तृत्व तो आरोपित मानी जाएगी क्योंकि कर्तृत्व सत्य रूपा है क्योंकि वास्तविक परिणाम स्वाभाविक इसका प्रकृति में हो सकता है और तत्काल तो स्थिति जो हुई थी उसको निवृत्त होने के बाद में लौट भी सकता है यदि न ऐसी व्यवस्था हम देंगे तो भी नहीं हो सकता क्यों कभी परमार्थ तो भोग पुरुष से तो पुरुष के अंदर परमार्थ तो भोग की जो आपने कथन किया है वो सिद्ध नहीं हो सकेगा तरी परमार्थ तो पुरुष से भोगो न ऐसा कर देना फिर आपने जो कहा है परमार्थ पुरुष भोग में पड़ा रहता है तो इसलिए सुख दुख सब पुरुष को ही अनुभव होता है और जब प्रकृति चाहेगी तब उसको भोग देना समाप्त कर देगी और परमार्थ तो पुरुष को भोग प्राप्त बंद हो जाता है मोक्ष और जो है बंधन की जो व्यवस्था है सांख्य का वह खंडन हो जाएगा यदि आरोपित भोक्तृत्व पुरुष में लाओगे तो ये कहते हैं तो, तो परमार्थ जो पुरुष के अंदर भोग जो सांख्य मत है वह खंडित हो जाता है भोग काल चिन्मत क्या परमार्थ ही तेन भोग पुरुष से चिन्ह और यदि सांख्य अपने सिद्धांत को वापस लाने के लिए कहता है ऐसा है चिन्मात्र स्थिति रहते हुए भी भोग काल भोक्तृत्व विक्रिया पारमार्थी की हो गई है मानो ये कैसा होगा वो चिन्ह मात्र भी बना रहेगा और विक्रिया भी हो जाएगी ये ये तो नहीं हो सकता लेकिन वो पारमार्थिक भोग जो स्वीकार कर रखा है उस स्वीकृत सिद्धांत को रक्षा करने के लिए वो कहता है उस भोग काल में मात्र स्वरूप कर रहते हुए भी विक्रिया हो पारमार्थिक विक्रिया हो गया यदि ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता क्यों तब भी समस्या होगी प्रधान में पारमार्थिक विक्रिया मान लिया यहाँ भी पारमार्थिक विक्रिया मान लिया दोनों बराबर तब भी हुई तो फसाना जो अंतर कर रहे थे वो अंतर खत्म हो जाएगा यही कह रहे हैं प्रधान से भोग काल विक्रियावत्ता भोक्तृत्व तो प्रसन्न किया फिर प्रधान भी जो है ना भोग काल विक्रिया वाला होने से भोक्तृत्व को प्रधान भी मार लो फिर चिन्ह मात्र से विक्रिया भोक्तृत्व मिति चाहे छिन्न मात्र के अंदर विक्रिया आज हुए उसी को हम भोक्तृत्व कहेंगे और प्रधान में होने वाली विक्रिया को हम भोक्तृत्व नहीं कहेंगे ये तो आपके दुराग्रही मात्र हुआ विक्रिया तो विक्रिया है उसको नामकरण करने के ऊपर आपकी लड़ाई चल रही है प्रधान में हुई भोक्तृत्व विक्रिया को कर्तृत्व संज्ञा दे रहे हो और पुरुष में एक तो वर्ष विरुद्ध बात आपने कह दिया वो मात्र भी है पारमार्थ से विक्रिया भी है दोनों कैसा होगा असंभव परिकल्पना होते हुए अगर विक्रिया उसके अंदर स्वीकार किया है उस विक्रियत्व का नाम भोक्तृत्व क्यों दे रहे हो हम उल्टा करेंगे ये जो पारावार विक्रिया पुरुष में उसका नाम करते हो तुम नाम रखो जो प्रकृति में रहने वाली पारमार्थिक विक्रिया है उसका नाम भोक्तृत्व रखो नाम ही तो रखना है दोनों में पारावार विक्रिया तो मैंने मान ही लिया फर्क क्या रह गया इसलिए भोक्तृत्व करते यही मानना वहां नहीं मानना यह सब जो चर्चा है आपकी वांग मात्र युवा और वास्तविक की कुछ भेद नहीं है अतएव औष्ण्यादि असाधारण धर्मवताम अग्नि आदि नाम अभोक्तृत्व एक अनुपत्ति है इस तरह से औष्ण्यादि असार धर्म वाला अग्नि में भी तो विक्रिया आप देख रहे हो फिर अग्नि में होती हुई विक्रिया को आप कर्तृत्व मानोगे भोक्तृत्व मानोगे इस तरह से प्रत्येक वस्तु में अपने अपने असाधारण धर्म को लेकर उसे विक्रिया होती रहती है इसलिए प्रत्येक निष्ठ पार्थ की जो विक्रिया है स्व असान धर्म रूपा विक्रिया उन विक्रियाओं को क्या नाम दोगे भोक्तृत्व लोग कर्तृत्व लोग क्या विधि गमना है आपके पास हम्म। मात्र है उसकी प्रधान मात्रता तो वैसी वैसे सामने अवस्था तो बिगड़ी नहीं सामने बने हुए ही विक्रिया जैसे चिन्मात्र का होते हुए भी विक्रिया इसलिए कहते हम अग्नि में भी ऐसी तो हो रही है जल में भी ऐसा है वायु में भी ऐसा है प्रत्येक में अपना अपना आसान विक्रिया मान लो वो अपने अपने स्वर पर रहेंगे स्वर पर रहते हुए आसान विक्रिया होते रहेंगे फिर उन विलुवन विक्रिया में क्या लोगे भगवान तो अग्नि अभिमानी देवता है ना हर जगह चेतन चेतन के बिना कहा है कोई चीज उनके महातत्व में भोग प्रदान करने क्षमता कैसे आई जब तक पुरुष की जो प्रतिबिंब मानते कि नहीं वो सांख्य भी पुरुष का प्रतिबिंब के बिना भोक्तृत्व तो पुरुष में आ ही नहीं सकता पुरुष के प्रतिबिंब इसलिए उन्होंने लिया दृष्टान क्या लेते सांख्य वाले अंधा लंगड़े की कहानी लगते हैं पंगबंधन न्याय लिया कि नहीं लिया उन्होंने उसके बिना कैसे चलेगा क्योंकि जो परस्पर एक दूसरे का सम्मान से ही इसमें भोक्तृत्व से कर्तृत्व निश्चय हुआ नहीं तो जड़ में कर्तृत्व क्या मालूम प्रधान ने विक्रिया किया है आधा जागरण हुआ है किसको मालूम हो रहा है प्रधान को मालूम होता है क्या कि चेतन को मालूम होगा बिना परस्पर संयोग का हो ही नहीं सकता ये हेतु करके इसलिए वहां पर कहा है संयोग जो है ना ये हेतु बना बिना संयोग का इसके भोक्तृत्व या कर्तृत्व कोई भी चीज का निर्णय कौन करेगा चेतन ये नहीं करेगा मेरे अंदर भोक्तृत्व कैसे कहेगा जब तक प्रकृति से भोगना प्राप्त और इनका सिद्धांत यह प्रकृति भोग देती है तब तो उसे भोक्तृत्व आई नहीं तो कहां से आएगा चेतन मात्र में आप कैसे कहते चिन्ह मात्र का धारणा भोक्तृत्व ये रटंत केवल विद्या हुई शब्द जाल मात्र हुआ यदि उसके अंदर भोक्तृत्व स्वाभाविक है प्रकृति क्यों दे भोग प्रकृति बिना भी उसके अंदर भोग प्राप्त हो क्या उसका भोक्तृत्व है अब प्रधान भी बिना पुरुष का संसार को बनाते क्या मतलब पुरुष क्या मतलब रहा है वो स्वतंत्र है उसमें कर्तृत्व है बनाते रहे संसार को तुम किसके लिए बनाएगी स्वतंत्रता पारमार्थी की भोक्तृत्व नहीं कर्तव्य सब नैमित्त की यही तो सिद्ध करना चाह रहा हूं मैं भी इसे पत्री के बिना पुत्र के बिना पितृत्व तो नहीं तो निमित्त नैमित्त की बिना पितृत्व किसके स्वार स्वार यदि सर्वभूत और पितृत्व तो पत्र की क्या जरूरत है पितृत्व लाने के लिए पुरुष के स्वरूप में पितृत्व नहीं है वह तो आरोपित है आगंतुक है नैमित्तिक है इस तरह हम भी कह रहे हैं यही तो हम सिद्ध करना ही चाह रहे वेदांति तो इस पुरुष के अंदर जो भोक्तृत्व है चाहे प्रकृति में कर्तृत्व है सब के सब एक अज्ञानी व्यक्ति के जो दिखाई संसार के कारण से वह उस बात को स्वीकार व्यवस्था को स्वीकार कर रहा है अत्य आरोपित वस्तु है बल्कि वही वहीं पहुंच ही जाएंगे स्वाभाविक वेदांत में जितना भी तरह जाल बिछाओगे घूम के अंत में वह असत्यता में आना ही पड़ता है उसके व्यवस्था नहीं बनती इसलिए इनका कहना है देखो कि जैसे आदियों में भी जो है धर्म को लेकर के अग्नियादि में भी अभोक्तृत्व को सिद्ध करने में आपका कोई हेतु उपपन्न नहीं हो सकता तीसरी बात प्रधान पुरुष और द्वय और युगपत भोक्तृत्व चेत ला ना सहयोग में करके प्रधान और पुरुष इन दोनों के परस्पर संबंध को लेकर दोनों में ही भोक्तृत्व दोनों में ही कर्तृत्व मान लो कभी भी नहीं हो सकता जो वेदांत मानना नहीं चाहता है वेदांत भोग कर सारा अध्यास ही है अविद्या और अविद्याकृत कार्यवत अध्यास में पुरुषों तो बिल्कुल हम मन नहीं मानना चाहते शुद्ध आत्मा है उसके न भौतृत्व न कर्तृत्व है इसलिए ये भी मत हमें स्वीकार नहीं कि दोनों मिल करके दोनों के अंदर भौतृत्व कर्तृत्व आ जाए ये असंभव है दोनों में हम नहीं मान सकते वो केवल प्रकृति में है या प्रकृति जन अध्यास में है मान लो तो हमारे कोई आपत्ति नहीं बनेगी वेदांत के साथ इसलिए कहते ऐसा व्यवस्था देना चाहते हो वो भी नहीं हो सकता क्योंकि आपका जो मत था प्रधान से परार्थी अनुपत्य है आप जितना क्या है प्रधान किस लिए है पर के लिए